अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं अस्तित्व तो प्रकाश का है पर अंधेरा भी दिखाई पड़ता है और वास्तविक मालूम होता है और कौन कहेगा कि अंधेरा नहीं अनुभव में तो ऐसा आता है कि प्रकाश से भी ज्यादा वास्तविक अंधेरा है क्योंकि प्रकाश को तो जलाना पड़ता है फिर भी बुझ बुझ जाता है अंधेरे को जलाना भी नहीं पड़ता फिर भी बना रहता है और प्रकाश तो कितना ही बड़ा दिखाई पड़े सीमित मालूम पड़ता है अंधेरा असीम है और ऐसा लगता है कि अंधेरे के सागर में प्रकाश कभी जलता है और बुझ जाता है लेकिन सागर बना रहता है जबकि वस्तुता अंधेरा नहीं है फिर अंधेरा दिखाई कैसे पड़ता है और अगर अंधेरा नहीं है तो अंधेरा है क्या अगर उसका अस्तित्व नहीं है तो उसकी ये प्रतीति उसकी ये भ्रांति प्रतीति भी क्यों होती है इसे थोड़ा समझ लें तो इस सूत्र में प्रवेश हो सके प्रकाश है और अंधेरा केवल प्रकाश का अभाव है उसकी गैर मौजूदगी उसकी अनुपस्थिति है इसलिए हम प्रकाश को जला सकते हैं अंधेरे को नहीं जला सकते इसलिए हम प्रकाश को बुझा सकते हैं अंधेरे को नहीं बुझा सकते इसलिए हम प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं अंधेरे को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते जो है ही नहीं उसे ले जाने का भी कोई उपाय नहीं जो है ही नहीं उसे बनाने का भी कोई उपाय नहीं जो है ही नहीं उसे मिटाने का भी कोई उपाय नहीं क्योंकि अंधेरे के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए अंधेरा नहीं जो है उसके साथ कुछ किया जा सकता है और हमें अगर अंधेरे के साथ भी कुछ करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है अगर अंधेरा चाहिए हो तो प्रकाश बुझाना पड़ता है अंधेरा नहीं जलाना पड़ता अगर प्रकाश न चाहिए हो अगर अंधेरा न चाहिए हो तो प्रकाश जलाना पड़ता है अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता अंधेरे के साथ कुछ करने का उपाय ही नहीं है जो नहीं है उसके साथ कुछ किया भी कैसे जा सकता है अंधेरा है अभाव प्रकाश के न होने का नाम है आंखें जब प्रकाश को नहीं पाती तो उस नहीं पाने में जो प्रतीति होती है वो है अंधकार अंधकार खाली जगह है और हमारे भीतर बड़ा अंधकार है बाहर के अंधकार को तो हम बाहर के प्रकाश से मिटा लेते भीतर के अंधकार को भीतर के प्रकाश से ही मिटा सकेंगे बहुत लोग नासमझी में पड़ जाते वे भीतर के अंधेरे को सीधा ही मिटाने की कोशिश में लग जाते हैं तब अड़चन खड़ी हो जाती है जब वे भीतर के अंधेरे को सीधा ही काटने पीटने लगते हैं तो उलझन में पड़ जाते हैं तनाव से भर जाते हैं और भी अशांत हो जाते हैं भीतर भी अंधेरे को मिटाने का यही उपाय है कि भीतर का प्रकाश जलाया जाए सीधा अंधेरे की बात ही मत करें सीधे अंधेरे की चिंता ही मत करें ऐसा समझे कोई मेरे पास आता है और कहता है क्रोध बहुत है क्या करूं उससे मैं कहता हूं क्रोध की बात ही मत करो तुम क्रोध को रहने दो तुम शांत कैसे हो सकते हो इसकी बात करो और जिस दिन तुम शांत होने लगोगे क्रोध अपने आप तिरोहित हो जाएगा क्योंकि क्रोध केवल अभाव है कोई कहता है वासना काम वासना से कैसे छुटकारा हो उससे मिलता हूं उसे तुम छुओ ही मत तुम प्रेम को फैलाओ जितना प्रेम विराट होता जाएगा उतना काम छीन और शून्य हो जाएगा नकार में मत पड़ो विधेय की खोज करो जो वस्तुता है उसकी ही चिंता में लगो तो कुछ हो सकेगा लेकिन हम में से बहुत लोग इसीलिए भटकते हैं कि हम नकार के साथ ही उलझ जाते हैं हम छायाओं से लड़ते हैं और फिर हार जाते हैं तो मन में सीधा लगता है कि जब छाया से हार गए तो छाया बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए स्वभावता सीधा तर्क और गणित है कि जिससे हम हार गए वो मजबूत होना चाहिए लेकिन छाया से आप हारते नहीं छाया से जीत भी नहीं सकते छाया है ही नहीं छाया से लड़के आप अपनी शक्ति ही नष्ट करते हैं और खुद ही शक्ति नष्ट हो जाती तो पराजित हारे हुए गिर जाते छाया को न कोई चोट पहुंचती और न छाया आपको कोई चोट पहुंचाती लेकिन हार हो जाती है अपनी ही शक्ति खो के आदमी हार जाता है धर्म है विधायकता और जब तक कोई नकार से चलता है तब तक धार्मिक विज्ञान की प्रक्रिया उसके हाथ में नहीं आती इस सूत्र को हम समझे हे शिष्य उस घातक छाया से सावधान रहे उस समय तक कोई भी उच्चस्थ आत्मा का प्रकाश निम्नस्थ आत्मा के अंधकार को नहीं मिटा सकता जिस समय तक उससे सभी अहंकारी विचार नहीं निकल गए और यात्री यह नहीं कहता कि मैंने इस छंग भंगुर शरीर को त्याग दिया है आदमी के भीतर उस प्रकाश के जलाने के लिए क्या करें एक और बात समझ लें पहली तो बात ये अंधेरे से मत लड़े प्रकाश को जलाने की चेष्टा करें दूसरी बात जो प्रकाश जलाया जाता है वो बुझ जाएगा सभी निर्मित चीजें नष्ट हो जाती और जो प्रकाश पैदा किया जाता है वो कल मरेगा जन्म के बाद मृत्यु है तो भीतर का प्रकाश अगर हमने जलाया हमने कितनी देर चलेगा जिसके ईंधन हम हैं वो कितनी देर चलेगा और जिसको हमने पैदा किया वो हमसे बड़ा नहीं हो सकता वो हमसे क्षुद्र होगा और हम ही मिट जाते हैं तो हमारा जलाया हुआ दिया कितना टिकेगा और जो हमारा ही पैदा किया हुआ है वो हमें मार्गदर्शन नहीं दे सकता तो दूसरी बात समझ लें कि भीतर का प्रकाश जलाना नहीं है भीतर का प्रकाश है ही आवृत है ढका है उघाड़ना है अनढका करना है जैसे कि पत्थर की ओट में एक झरना छिपा हो और धक्का मार रहा हो पत्थर को कि हटो द्वार से तो मैं फूट पड़ू वैसा ही भीतर का प्रकाश है द्वार पर कोई पत्थर है वो अटका रहा है एक बड़े मजे की बात है कि अंधकार प्रकाश को जरा भी नहीं रोक सकता इसलिए असली दुश्मन अंधकार नहीं है आप दिया जलाएं तो अंधकार ये नहीं कह सकता कि नहीं जलने देंगे अंधकार दिए को बुझा भी नहीं सकता कभी सुना है कि अंधकार ने दिए को बुझा दिया कि अंधकार ने हमला किया हो और दिया मिट गया हो कभी सुना है कि अंधकार ने बाधा डाली हो एक घर में जाएं जो हजार साल से अंधेरे में दबा हो और वहां भी एक छोटा सा दिया है तो हजार साल पुराना अंधकार भी उस नए दिए की ज्योति को बुझा ना सकेगा रोक भी ना सकेगा जलने से अंधकार नहीं रोकता फिर कौन रोक रहा है पत्थर की तरह भीतर प्रकाश को जन्मने से या प्रकाश को प्रकट होने से कौन अड़ा है झरने पर अंधकार नहीं अहंकार मैं का भाव और क्यों मैं का भाव बाधा बनता होगा जब तक हमें ख्याल है कि मैं हूं तब तक हम विराट से अपने को तोड़कर चलते हैं और वो प्रकाश विराट का है वो प्रकाश हमारा नहीं है हम तो जब तक हैं तब तक वो प्रकाश प्रकट न हो सकेगा हम ही बाधा हैं बुद्ध ने बहुत बार कहा है तुम्हारे अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं और तुम समझ रहे हो स्वयं को साधक और तुम्हारे अतिरिक्त कोई बाधा नहीं और तुम सोच रहे हो मैं साध लूंगा इस सत्य को और तुम ही हो अर्चन तुम ही अड़े हो मार्ग में मध्य में तुम ही झरने को फूटने नहीं देते मैं का भाव मैं हूं इस घोषणा में ही विराट दब गया है और विराट के रास्ते बड़े मौन और विराट के रास्ते बड़े विनम्र और विराट जबरदस्ती नहीं करता विराट आक्रामक नहीं है विराट प्रतीक्षा करता है और हमारे मैं की जो आवाज है वो रुकावट बन जाती ये सूत्र कहता है अहंकार के विचार जब तक नहीं निकल गए तब तक वो प्रकाश नहीं उपलब्ध होगा जिससे अंधेरा मिट जाए अहंकार है क्या क्या है आपके भीतर जिसको आप कहते हैं मैं शब्द से अतिरिक्त और क्या है कभी आपने सोचा कि किसे आप पुकारते हैं मैं कौन है ये उसका कोई भी पता नहीं सिर्फ एक लेबल भीतर क्या है उसका हमें कोई पता नहीं ऊपर से एक नाम है बच्चा पैदा होता है तो हमें नाम देना पड़ता है कहना पड़ता है राम कृष्ण कुछ नाम देना पड़ता है बच्चा बिना नाम के पैदा होता है और इस दुनिया में बिना नाम के बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसका कोई नाम ना हो तो बड़ी कठिनाइयां खड़ी हो जाएंगी एक नाम उसे देते हैं कि तेरा नाम हुआ राम इस नाम से दूसरे उसे पुकारते हैं लेकिन उसे खुद को पुकारने के लिए भी एक नाम चाहिए अलग क्योंकि अगर वो भी कहे राम तो लोग समझेंगे पता नहीं किसी दूसरे को पुकार रहा है स्वामी राम ऐसा करते थे स्वामी राम ने मैं कहना बंद कर दिया था और वो सीधा राम का ही उपयोग करने लगे थे वो कहते थे राम को बड़ी प्यास लगी तो सुनने वाला समझ ही नहीं पाता कि वो कह रहे हैं कि मुझे प्यास लगी तो सुनने वाला पूछता किसको वो कहते राम को तो आसपास देखता कि किसकी बात चल रही है राम एक दिन गांव से लौटे और उन्होंने कहा कि आज राम को रास्ते में बड़ी गालियां पड़ रही थी तो जिसके घर मेहमान थे उसने कहा किसको तो उन्होंने कहा राम को तो घर वाले ने पूछा कि महाराज सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आपको गालियां पड़ रही थी तो राम ने कहा लेकिन राम को ही पड़ रही थी मैं तो खड़ा हुआ सुन रहा था और भीतर भीतर हंस रहा था कि खूब फंसे राम खूब फंसे और राम से मैं कह रहा था भीतर भीतर कि जब प्रशंसा चाहोगे तो गालियां भी पड़ेंगी लेकिन अगर हर आदमी अपने नाम का उपयोग करने लगे तो अड़चन खड़ी होगी चर्चा मुश्किल होगी समझ उलझ जाएगी जटिलता बढ़ेगी इसलिए स्वयं को पुकारने के लिए एक सर्ववाची नाम है मैं ये दोनों ही नाम है नाम दूसरों को बुलाने के लिए मैं स्वयं को इंगित करने के लिए लेकिन बस नाम ही है भीतर क्या है उसका हमें कोई पता नहीं फिर इस मैं के शब्द के आसपास हम सारे जीवन को कस लेते हैं निर्मित कर लेते हैं फिर मैं राजा हूं मैं रंग हूं मैं सन्यासी हूं ग्रस्त हूं धनी हूं गरीब हूं सुखी हूं दुखी हूं बड़ा हूं छोटा हूं फिर हम इस मैं शब्द के आसपास बुनते चले जाते हैं जैसे मकड़ी जाला बुनती है जाल बहुत बड़ा हो जाता है एक छोटे से शब्द के आसपास पूरा जीवन चुक जाता है पूरा जीवन लग जाता है ये जो मैं है यही बाधा है उसे जानने में वस्तुता जो आप है ये शब्द ही आपके लिए काफी हो गया है और आप सोचते हैं बस जान लिया आपने को अपने को जानना और क्या है मैं मैं हूं कुछ भी नहीं जाना सिर्फ एक शब्द था और आप सोच रहे हैं आपने जान लिया ऊपरी बात है भीतर क्या दबा है इस मैं के इस मैं के भीतर दबा है प्रकाश उसे कोई आत्मा कहे परमात्मा कहे या कोई और नाम दे पर इस मैं के भीतर दबा है प्रकाश इस लेबल के पीछे ही छिपा है झरना अगर ये लेबल हटा ले तो सत्ता का अनुभव हो ये नाम हट जाए तो अस्तित्व का पता चले इस नाम से अड़चन हो गई है इस नाम की वजह से भीतर जाना ही नहीं हो पाता बस यही लोग जाते हैं कि सोचते हैं बात खत्म हो गई समझ लिया हमारी हालत ऐसी जैसे मील के पत्थर के पास कोई रुक जाए और सोच ले कि मंजिल आ गई मील का पत्थर सिर्फ इशारा है दरवाजे पर कोई बैठ जाए और सोचे कि मंदिर के भीतर पहुंच गए दरवाजा केवल भीतर पहुंचाने का द्वार था वहां रुकना नहीं था वहां से आगे जाना था नाम तो आपके अस्तित्व की बाहरी परत है परिधि है उस परिधि पर ही ठहरे केंद्र का ख्याल ही भूल गए और उस परिधि को ही केंद्र मानकर हमने एक संसार निर्मित कर लिया है अहंकार से ये अर्थ है और जब तक ये अहंकार का पत्थर न हटे तब तक भीतर छिपे हुए खजाने का हमें कोई पता नहीं चल सकता भीतर अनंत प्रकाश है लेकिन हम पीठ किए बैठे और जो हम नहीं है वो समझे हैं कि हम हैं और जो हम हैं उसका हमें कोई ख्याल नहीं क्या समझा है आपने अगर कोई आपसे पूछे कि थोड़ा बताइए अपने संबंध में क्या बताइएगा बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे कोई पूछता नहीं इसीलिए क्योंकि ये बड़ा अशिष्ट हो जाएगा अभद्र मालूम पड़ेगा किसी को अड़चन में डालना ठीक भी नहीं कोई अगर आप पूछे कि क्या है आप तो क्या बताइएगा परिचय में बताइएगा नाम कितना नाम का मूल्य है नाम तो दूसरा भी माँ बाप दे सकते थे तो कोई अड़चन न थी तीसरा भी देते तो उससे भी काम चल जाता इस नाम में आपके होने का क्या जोड़ है ये नाम तो बिल्कुल संयोगिक है एक्सीडेंटल है इस नाम से आपका क्या संबंध है इस नाम के बिना आप नहीं हो सकते इस नाम को अलग कर लें तो आप मिट जाएंगे गहरी नींद में ये नाम मिट जाता है आपको पता भी नहीं होता स्मृति को जरा चोट लग जाए आपको याद भी नहीं रहता कि आपका खुद का नाम क्या है इस नाम से आपका क्या लेना देना है और अगर नाम ही अपना नहीं है तो फिर और क्या आपका है बताइएगा किसके बेटे हैं किसके भाई हैं किसके पति हैं किसकी पत्नी है ये बताइएगा ये संबंध है इनका आपसे कोई लेना देना नहीं इन संबंधों के बिना आप हो सकते हैं इन संबंधों के बिना आप थे ये कल खो जाएंगे तो आप मिट नहीं जाएंगे आपका अपना होना है वो होना क्या है वो अस्तित्व क्या है संबंधों में जो बंधा है वो भीतर जो संबंध से जुड़ा है वो कौन है उसका इससे कोई पता नहीं चलता आप दुकानदार हैं कि डॉक्टर हैं कि कि शिक्षक हैं कि चोर हैं कि साधु हैं इससे भी कोई पता नहीं चलता इससे पता चलता है कि आप क्या करते हैं ये पता नहीं चलता कि आप क्या हैं एक आदमी डॉक्टरी करता है एक आदमी चोरी करता है ये उनके काम है और जो चोरी करता है वो डॉक्टर हो सकता है कल जो डॉक्टर है वो कल चोर हो सकता है इससे अस्तित्व का कोई पता नहीं चलता कि वो क्या है तो आप बताएंगे क्या अपना परिचय है नाम धाम पता ठिकाना काम लेकिन इसमें कोई भी आप नहीं है ये सब झूठा मामला है लेकिन इसको हम मान के चलते हैं कि यही हमारा होना है यही पत्थर बन जाता है इस झूठे होने के कारण वास्तविक होना प्रकट नहीं हो पाता और जो नकली से राजी हो गया उसको असली मिलने की कोई जगह ना रही क्योंकि मान लिया कि अपने को पा ही लिया जान ही लिया अब जानने को कुछ बचा नहीं तो अगर सुकरात से लेकर आज तक सभी जानने वालों ने अगर एक ही बात कही है कि अपने को जानो तो बड़ी अजीब सी लगती है सभी तो अपने को जानते हैं ऐसा कोई आदमी देखा जो अपने को नहीं जानता फिर ये सुकरात का दिमाग फिर गया उपनिषद के ऋषि पागल ये बुद्ध और महावीर एक ही रटन लगाए हुए कि अपने को जानो और यहां आदमी नहीं है ऐसा जो अपने को न जानता हो जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है हमारे जानने में कहीं ना कहीं कोई भ्रांति है तब तो इतना चिल्लाते हैं और हमको भी हैरानी होती है सुन के कि क्या बकवास लगा रखी कि अपने को जानो अपने को हम जानते ही कि मेरा नाम ये है मेरा घर का पता ये मैं इस बेटे इस बाप का बेटा हूं इसका भाई हूं इसका पति हूं ये मेरी दुकान है ये मेरा फोन नंबर है ये मेरा होना है अब और क्या अपने को जानू आपका फोन नंबर आप नहीं है आपकी दुकान पर लगी तख्ती आप नहीं है आपके नाम के पीछे लगी उपाधियां आप नहीं है आपके नाम के आगे लगे कुछ भी नाम के आगे पीछे आप नहीं है नाम भी आप नहीं काम चलाऊ है ये सब और इस दुनिया में अड़चन होगी इसलिए काम चलाऊ व्यवस्था करनी पड़ती अहंकार काम चलाऊ व्यवस्था है एक उपाय है और हम उसी को सत्य मानकर अड़ जाते हैं बस फिर वो जो भीतर छिपा था उसको प्रकट होने के लिए हम ही बाधा बन जाते तो पहली बात तो जाननी जरूरी यह है कि आप अपने को अब तक जो जो मानते रहे हैं वो आप नहीं यह विचार गहन हो जाए तो अहंकार को छोड़ देने में कोई भी अड़चन नहीं क्योंकि हाथ में लेबल के सिवाय कुछ भी नहीं है बिल्कुल कागजी नोट चलते हैं काम देते हैं लेकिन सत्व उनमें जरा भी नहीं है इस झूठ के प्रति जागे सूत्र कहता है अहंकारी विचार जब तक नहीं निकल गए उस समय तक कोई भी उच्चस्थ आत्मा का प्रकाश निम्नस्थ आत्मा के अंधकार को नहीं मिटा सकता और यात्री यह नहीं कहता है कि मैंने इस क्षण शरीर को त्याग दिया है मैंने कारण का नाश कर दिया है अतः जो छायाएं पड़ती हैं वे अब नहीं टिक सकती कारण है अहंकार और अहंकार ही कारण है इस भाव का कि मैं शरीर हूं इसे भी थोड़ा ख्याल में ले लें मैं है केवल नाम एक शब्द जरूरी लेकिन बिल्कुल असत्य और इस असत्य के पास अपनी कोई भी संपदा नहीं है कोई आत्मा नहीं है आत्मा का इसे कोई पता नहीं है लेकिन ये नाम ये शब्द ये थोथा औपचारिक उपाय ये भी तो कहीं अपने पैर टिकाएगा इसको भी तो कोई जगह चाहिए जिस पे ये खड़ा हो ये अहंकार कहां खड़ा हो कहां पैर टिकाए ये शरीर पर पैर टिका देता है शरीर है पदार्थ ये उस पर पैर टिका देता शरीर को इंकार भी नहीं करता ये शरीर पर पैर टिका देता और कहता है ये मैं हूं मैं यानी मेरा शरीर और तब एक अद्भुत जाल निर्मित होता है एक झूठ एक शरीर बहुत वास्तविक है एक वास्तविक चीज के ऊपर खड़ा हो जाता है ध्यान रहे झूठ को भी चलना हो तो किसी न किसी वास्तविकता का सहारा लेना जरूरी है झूठ के पास पैर नहीं है वो खुद नहीं चल सकता उसके पास कुछ भी नहीं झूठ का मतलब ये उसके पास कुछ भी नहीं उसे कोई सहारा लेना पड़े इसलिए झूठ बोलने वाला हमेशा पूरे उपाय करता है आपको समझाने के कि मैं सच बोल रहा हूं अगर भरोसा आ जाए कि ये सच है तो झूठ चल सकता है अगर जरा सा भी शक हो जाए कि झूठ है तो झूठ वहीं गिर जाता है इमेनुअल कांट ने बड़ी कीमत की बात कही है उसने कहा कि अगर सारी दुनिया में सभी लोग झूठ बोलने लगे तो झूठ बिल्कुल बेकार हो जाए झूठ तभी तक चलता है जब तक कुछ लोग सच बोल रहे हैं या आशा रहती है कि कोई ना कोई सच बोलता है अगर सभी लोग तय ही कर लें कि हम झूठ ही बोलेंगे और जो भी बोलेंगे वो झूठ ही होगा तो फिर झूठ के चलने का उपाय न रह जाए पर बड़ी अड़चने हों उसमें काम चलना ही मुश्किल हो जाए सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन ट्रेन में सवार हुआ जिस धंधे में वो लगा था उसी धंधे का एक दूसरा आदमी भी उसी डब्बे में चढ़ती भागती गाड़ी में सवार हुआ मुल्ला ने मन में सोचा कि अगर मैं इससे पूछूंगा उसका प्रतियोगी था उसी धंधे में अगर इससे मैं पूछूंगा कहां जा रहा है तो जरूर झूठ बोलेगा फिर भी मुल्ला ने कहा देखे पूछा कहां जा रहे हो उस आदमी ने कहा दिल्ली जा रहा हूं मुल्ला ने कहा कि जरूर कलकत्ता जा रहा हो ये आदमी विरोधी है धंधे में और सिवाय झूठ के कभी सच बताता नहीं जरूर कलकत्ता जा रहा होगा पक्का है मामला लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि गाड़ी तो दिल्ली जा रही है मुस्कुराया वो हंस के बोला कि क्यों झूठ बोलते हो दिल्ली जा रहे हो और बताते हो दिल्ली जा रहे हो ताकि मैं समझूं कि कलकत्ता जा रहे हो दिल्ली जा रहे हो और झूठ बोलते हो कि दिल्ली जा रहे हो ताकि मुल्ला नसरुद्दीन समझे कि कलकत्ता जा रहे हो बड़ी अचिन हो जाए अगर सारे लोग झूठ बोल रहे हो तो हिसाब लगाना और किसी बात का कोई भरोसा नहीं दुनिया चलती है थोड़े से सच के सहारे झूठ भी चलता है सच के सहारे अहंकार बिल्कुल सरासर झूठ है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है शरीर का अस्तित्व है आत्मा का अस्तित्व है अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है अहंकार मात्र एक ख्याल है या तो अहंकार आत्मा में अपने पैर गड़ाए तो चल सकता है लेकिन आत्मा में वो पैर गड़ा नहीं सकता क्योंकि आत्मा के प्रकाश में वो अंधकार है टिकेगा नहीं इसलिए शरीर के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है अहंकार अपनी जड़ें शरीर में डाल देता है शरीर के सहारे अहंकार सच्चा हो जाता है वास्तविक हो जाता है यथार्थ हो जाता है अहंकार की प्रतीति है ये कि मैं शरीर हूं ये आपकी प्रतीति नहीं है ये आपके अहंकार की प्रतीति है कि मैं शरीर हूं इसलिए जिस दिन अहंकार छूटता है उसी दिन ये ख्याल भी छूट जाता है कि मैं शरीर हूं तब तो वही रह जाता है जो आप हैं वो शरीर में है शरीर नहीं है शरीर में रमा है बसा है शरीर नहीं है शरीर उसका घर है देह आवास है एक पड़ाव एक मुकाम है अभी है इस घर में कल नहीं होगा और बहुत घरों में रहा तो बहुत घर बदले और बहुत घर बदलने पड़ेंगे और जब भी जीन सिन हो जाते हैं वस्त्र तो हम फेंक देते हैं और नए वस्त्र ग्रहण कर लेते रामकृष्ण मरने के करीब थे उनकी पत्नी बहुत रोने पीटने चिल्लाने लगी तो रामकृष्ण ने कहा तू क्यों घबरा थी क्योंकि मैं नहीं मर रहा हूं ये तो वस्त्र जीर्ण सीर्ण हो गए देखती है गले में कैंसर हो गया है और ये शरीर सड़ गया अब इस शरीर में रहना है गिरते हुए घर में रहना है जो किसी भी क्षण गिर सकता है इसलिए छोड़ते हैं इस जीवन सीर्ण देह को मैं नहीं मर रहा हूं केवल वस्त्र बदल रहा हूं शारदा ने रामकृष्ण की आंखों में देखा क्योंकि ये जो आदमी था ये कोई सिद्धांत की बात नहीं कह रहा था कोई शास्त्र पढ़ के नहीं कह रहा था कि मैं आत्मा हूं अनुभव से ही कह रहा था आंखों में वो अनुभव की झलक थी और जब भीतर प्रकाश फूटता है तो उसकी झलक स्वभावता आंखों तक आ जाती और मरते क्षण में रामकृष्ण ने कहा कि मैं नहीं मरूंगा तू चिंता ना कर मेरी कोई मृत्यु नहीं है सिर्फ कपड़े बदल रहा हूं और ये कपड़े तो तू भी कहेगी कि अकारण हो गए हैं बोझ हो गए हैं बदल देने और रामकृष्ण की मृत्यु हो गई और एक ही स्वर और उन आंखों में देखी झलक उस प्रकाश की जो अहंकार के हट जाने पर लेकिन सभी को दिखाई पड़ेगी रामकृष्ण की आंख में झलक ऐसा जरूरी नहीं है शारदा को दिखाई पड़ सकी क्योंकि उसका बड़ा गहन प्रेम था उन आंखों में शारदा उतर सकी और इस रामकृष्ण पर भरोसा किया था सदा वो भरोसा कारण बन गया रामकृष्ण जब कह रहे हैं कि मैं नहीं मरूंगा तो बात खत्म हो गई वे नहीं मरेंगे रामकृष्ण मर गए और शारदा विधवा न हुई फिर सारा परिजन परिचित सब इकट्ठे हो गए कहा चूड़ियां तोड़ डालो वस्त्र बदल डालो पर शारदा ने कहा कि वे कह के गए हैं कि मैं नहीं मरूंगा और वे नहीं मरे मैं अनुभव करती हूं कि जीवन सिंह देह छूट गई है वे हैं शारदा अकेली स्त्री है भारत में जो पति के मरने पर विधवा नहीं हुई फिर बहुत वर्ष जी लेकिन चूड़ियां हाथ पर रही और उसकी आंख में कभी आंसू दिखाई नहीं पड़ा और वो वैसे ही जैसे रोज रामकृष्ण की मौजूदगी में थी वैसे ही रही लोग तो समझने लगे कि पागल हो गई होगी क्योंकि जिस वक्त ठीक रामकृष्ण के सोने का समय होता उस वक्त वो मसहरी भी डालती उन्हें सुलाती थी जब उनके भोजन का वक्त होता तो उन्हें बुलाने भी आती उनका पटा भी लगाती थाली भी लगाती बैठकर पंख भी पंखा भी चलती एक दफा विवेकानंद ने उसे पूछा कि मां ये भी मान लें कि देह मिट गई वो है लेकिन यहां तो नहीं है तो शारदा हंसने लगी उसने कहा देह की वजह से यहां और वहां का सवाल था जब देह ही मिट गई तो अब सब जगह है अब तो जहां भी देखू उनको देख पा सकती हूं और जहां भी उनको निमंत्रण दू वहीं से वे निमंत्रित है देह की वजह से अड़चन थी कि वे कहीं होते थे अब सब कहीं है पर हमारे भीतर भी वो अस्तित्व है उस अस्तित्व पर एक भारी पर्दा है एक झूठ का पर्दा है और वो पर्दा वास्तविक हो गया है शरीर की सहायता से शरीर दुश्मन नहीं है आपका दुश्मन अहंकार है जैसे आपने देखी ना वृक्षों पर एक पीले रंग की बेल फैल जाती बिना जड़ों की होती है अमर बेल कहते हैं अहंकार अमर बेल है उसमें कोई जड़ नहीं है लेकिन किसी भी वृक्ष पर अमर बेल फैल जाती तो वृक्ष का रस चूसने लगती उसी को चूस के जीती वृक्ष धीरे धीरे सूखता जाता है और बेल फैलती रहती और उसकी कोई जड़ नहीं अहंकार अमर बेल है वो शरीर को पकड़ लेता है उसी को चूसता है और हम शरीर के खिलाफ हो जाते हैं हम सोचते हैं शरीर हमें दिक्कत डाल रहा है शरीर की वजह से हमें आत्मा का पता नहीं चल रहा भूल है आपकी शरीर कोई बाधा नहीं डाल रहा है शरीर तो सिर्फ वाहन है आप जहां ले जाएं नरक ले जाएं तो नरक चला जाएगा स्वर्ग ले जाएं तो स्वर्ग आप मुक्त होना चाहें तो मुक्ति के द्वार तक आपको पहुंचा देगा शरीर तो केवल साधन है असली अड़चन शरीर से नहीं है अहंकार से है लेकिन दिखाई पड़ती शरीर में क्योंकि अहंकार की अमर बेल शरीर को ग्रस लेती और शरीर से रस पाती झूठ को कोई ना कोई सच्चा सहारा चाहिए अहंकार जब तक निकल ना जाए और यात्री ये न कह सके कि मैंने क्षणभंगुर शरीर का त्याग कर दिया है त्याग का अर्थ कि अब मैं नहीं मानता हूं कि ये क्षणभंगुर शरीर मैं हूं त्याग का मतलब ये मत समझना कि आप शरीर को छोड़ दें कि शरीर से अलग हो जाएं ये बोध कि मैं शरीर नहीं हूं त्याग हो गया ये प्रतीति कि मैं शरीर नहीं हूं त्याग हो गया कारण का नाश कर दिया कारण है अहंकार अथा जो छायाएं पड़ती हैं वे अब नहीं टिक सकती क्योंकि अब उच्चस्थ और निम्नस्थ आत्मा के बीच महायुद्ध आरंभ हो गया है इस महायुद्ध में समस्त रण क्षेत्र समा गया है वह मानव है ही नहीं यहां एक बहुत विचारणीय बात है और जटिल भी इस जगत में प्रत्येक चीज द्वंद्व में है इस जगत में प्रत्येक चीज अपने विपरीत के साथ है होने का यही उपाय है जन्म है मृत्यु के साथ है हम कितना ही चाहें कि जन्म हो और मृत्यु ना हो यह हो नहीं सकता है जन्म एक छोर है उसी चीज का मृत्यु दूसरा छोर है उसी चीज का कोई उपाय नहीं है इस द्वंद में से एक को बचाने का और दूसरे को समाप्त करने का अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हर चीज की विपरीत चीज अनिवार्य है और वे तो यहां तक गए हैं कि बहुत न समझ में आने वाली बातें विज्ञान को ख्याल में आने लगी अभी एक विचारक ने प्रस्तावना की है कि समय बढ़ता है आगे की तरफ अतीत जाता है वर्तमान आता है वर्तमान जाता है भविष्य आता है यह समय अगर है तो इसके विपरीत समय भी होना चाहिए नहीं तो यह नहीं हो सकता इसका दूसरा छोर होना चाहिए रिवर्स टाइम जहां पहले भविष्य होता हो फिर वर्तमान होता हो फिर अतीत होता हो इससे उल्टी कोई धारा होनी चाहिए पास हमें पता ना हो लेकिन जरूर कोई उल्टी धारा होनी चाहिए उस उल्टी धारा के बिना यह समय ना हो सकेगा पदार्थ है तो भूत विज्ञान फिजिक्स का नया सिद्धांत है कि एंटी मैटर विपरीत पदार्थ भी होना चाहिए क्या होगा विपरीत पदार्थ बड़ा कठिन है लेकिन एक बात ख्याल में लेनी जरूरी है कि विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जगत में कोई भी चीज में एक ध्रुव नहीं हो सकता दो ध्रुव अनिवार्य है जैसे हम सोचें कि पुरुष ही पुरुष हो जगत में स्त्रियां न हो यह हो नहीं सकता हम सोचें स्त्रियां ही स्त्री हो पुरुष ना हो जगत में यह हो नहीं सकता ये पोलर अपोजिट है ये दो ध्रुव है और ये दोनों एक साथ ही हो सकते हैं जिससे ऋण और धन विद्युत एक साथ हो सकते हैं लाओसे ने चीन में हजारों साल पहले जो विचार प्रस्तुत किया था वो बहुत ठीक ठीक विकसित होता चला गया है और अनेक अनेक आयामों में सही सिद्ध हुआ है चीन में वे कहते हैं इन और यांग इन है स्त्री का नाम और यांग है पुरुष का नाम या इनको हम कहें निषेध पुरुष को हम कहें विधेय या इनको हम कहें पृथ्वी और यांग को हम कहें स्वर्ग कोई भी दो लेकिन इन और यांग दो से अस्तित्व बना है और एक के होते ही हम शून्य में विलीन हो जाते हैं एक का कोई अस्तित्व नहीं होता ब्रह्म इसीलिए शून्य है वो अकेला है जैसे हम दो से हटे कि हम ब्रह्म में लीन हो जाते वो है लेकिन शून्यवत उसके होने को पदार्थवत नहीं कहा जा सकता जब तक हम हैं पदार्थ में तब तक विपरीत होगा तो अगर आपके भीतर आत्मा है तो आपके भीतर विपरीत आत्मा जैसी चीज भी होगी नहीं तो आत्मा नहीं हो सकती अगर आपके भीतर उच्चाशय है तो निम्नाशय भी होंगे और अगर आपके भीतर श्रेष्ठ है तो निकृष्ट भी होगा और आपके भीतर अगर स्वर्ग की तरफ उड़ान की कामना है तो नर्क की तरफ जाने वाली जड़ें भी होंगी आप एक कुरुक्षेत्र हैं उसमें आपके भीतर पांडव भी होंगे और कौरव भी होंगे आप हो ही नहीं सकते इस द्वंद्व के बिना जिसे राज मकान बनाता है दरवाजे उठाता है तो गोल दरवाजे बनाता है विपरीत ईंटों को लगा देता है विपरीत ईंटें एक दूसरे से टकरा जाती उनकी टकराहट से ही मंडल निर्मित हो जाता है शक्ति का उस शक्ति पर बड़ा भवन खड़ा हो जाता है वो भवन गिरेगा नहीं क्योंकि बीच में विपरीत ईंटें जो नीचे लगी हैं वो एक दूसरे से टकरा के शक्ति का एक वर्तुल निर्मित कर रही है वो बड़ा भवन उस पर टिका रहेगा वही विरोध उस बड़े भवन का आधार है आपके भीतर भी एक विरोध है उस विरोध के कारण ही आप संसार में इसलिए बुद्ध कहते हैं जिस दिन विरोध नहीं होगा उस दिन तुम मुझसे ये मत पूछो कि आत्मा तुम्हारी आत्मा मोक्ष में होगी कि नहीं होगी मैं तुमसे कहता हूं नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे आत्मा का होने के लिए भी द्वंद अनिवार्य है निर्द्वंद अवस्था में होने का कोई अर्थ नहीं है न होने का कोई अर्थ नहीं दोनों बातें व्यर्थ हैं इसलिए बुद्ध ने निर्वाण शब्द चुना निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना द्वंद ही खो गया तो तुम भी खो जाओ जैसे कोई ईंट दरवाजे में लगी ये पूछे कि अगर ये विपरीत जो विरोध हम ईंटों में है अगर ये ना रहे तो दरवाजा होगा कि नहीं होगा द्वंद गया दरवाजा गया आकाश बचेगा जो दरवाजे में था दरवाजा नहीं बचेगा आपके भीतर जो एक है वो बचेगा जो दो की वजह से दिखाई पड़ता था वो खो जाएगा उस एक का आपको कोई पता नहीं आपको इन दो का जरूर पता है आपके भीतर कोई निरंतर ऊंची आवाज मालूम पड़ती है चोरी करने जाते हैं कोई भीतर संकित होने लगता है हत्या करने जाते हैं भीतर द्वंद खड़ा हो जाता दान देने जाते हैं तो भी एक नीचे की आवाज है जो रोकने लगती है कि ठहरो भी मैंने सुना है कि मार्क ट्वेन एक बार एक चर्च में गया वो जो चर्च का पुरोहित था बोल रहा था वाणी उसकी मधुर थी शब्द उसके प्यारे थे बड़ा काव्य था और धर्म की बड़ी सरल उसकी व्याख्या थी मार्क ट्वेन बड़ा प्रभावित हो गया उसने खीसे में हाथ डाल के सोचा कि दस डॉलर दान कर दूं दस डॉलर खीसे में थे दस मिनट लेकिन व्याख्यान और आगे चला तो मार्क ट्वेन ने सोचा दस भी देने की क्या जरूरत है पांच से भी काम चल सकता है और फिर अभी किसी को बताया भी तो नहीं है कि दस देना तो कोई अपराध भी नहीं कर रहे पांच से ही काम चल जाए और व्याख्यान लंबा चला तो ढाई दो उतरता गया मार्क ट्वेन का और उसने लिखा है कि जब मेरे सामने बर्तन आया दान का तो मेरी तबीयत हुई कि एक हाथ दो डॉलर इसमें से उठा लू तब तक मैं वहां पहुंच चुका था किसी तरह अपने को रोक के भागा कि कहीं उठा ही ना लू देने तो बात खत्म हो गई वो जो आपके भीतर जब भी शुभ करने का कुछ होता है तो एक विपरीत शक्ति बोलती है जब अशुभ करने का होता है तब भी एक विपरीत शक्ति बोलती है ये दो आपके भीतर आवाजें हैं इन आवाजों को जो ठीक से पहचानने लगता है उसे अपने भीतर का द्वंद्व और युद्ध क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है और जैसे ही व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ता है अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं वैसे ही ये युद्ध स्पष्ट होता है तब एक नए तल पर उसे दिखाई पड़ता है कि मेरा होना ही दो में विभाजित है कुछ है मेरे भीतर जो नीचे की तरफ जा रहा है और कुछ है मेरे भीतर जो ऊपर की तरफ जा रहा है और उन दोनों के खिंचाव के मध्य में हूं और उन दोनों के खिंचाव की वजह से मेरा संताप है मेरी चिंता दुख पीड़ा इस महायुद्ध में समस्त रण क्षेत्र समा गया है वह मानव है ही नहीं रण क्षेत्र नहीं बचा है सिर्फ सेनाएं छा गई हैं और दोनों तरफ पर यह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो शरीर में इतने उलझे हैं कि आपको ये पता चलना भी मुश्किल है कि शरीर के पीछे छिपी आत्मा के अस्तित्व में क्या घटित हो रहा है आप तो शरीर के तल पर लगे हैं वही आपका संघर्ष संसार में चल रहा है किसी से धन के लिए किसी से पद के लिए किसी से किसी और वासना के लिए संघर्ष बाहर चल रहा है आपको भीतर के संघर्ष का कोई पता नहीं भीतर का संघर्ष तो उन्हीं को पता चलता है जो शरीर से हटते हैं आंख उठाते हैं भीतर तो देखते हैं कि बाहर भी संघर्ष है भीतर भी संघर्ष है बाहर का संघर्ष बहुत क्षुद्र है भीतर का संघर्ष बहुत विराट है वो शाश्वत युद्ध है जहां दो शक्तियां आपको खींच रही हैं एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ और जब आप ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ संतुलन बनाने के लिए आपको फौरन खिंचाव शुरू हो जाता है ये बहुत मजे की बात है जब तक आप ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहते तब तक नीचे का खिंचाव ज्यादा नहीं होता जिस दिन आप संत होना चाहेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके भीतर का शैतान बहुत प्रबल है जब तक संत नहीं होना है तब तक शैतान का पता नहीं चलेगा क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है शैतान को चुनौती तो तब मिलती जब आप संत होने की कोशिश करते हैं तब आपको पता चलता है कि कितनी शैतानी भीतर छिपी है कथाएं हैं बहुत कि बुद्ध जब ठीक अपने भीतर प्रवेश करने लगे तो मार ने काम ने उनके ऊपर हमला किया जीसस जब परम ज्ञान के निकट पहुंचने लगे तब की घटना है कि शैतान उन्हें बहुत प्रलोभन देने लगा और जीसस को कहना पड़ा कि शैतान हट तेरे प्रलोभन मेरे लिए निरर्थक है हमें बहुत हैरानी होती है कि कुछ वहम हो गया होगा शैतान कहां है कौन जीसस के पीछे खड़ा होगा खुद का ही कोई वहम हो गया होगा बुद्ध को कौन मार हमला करने आता है कौन कामदेव वाण लेके खड़ा है खुद का ही कोई वहम हो गया होगा जहां हम हैं वहां ऐसा सोचना स्वाभाविक है क्योंकि हमें भीतर के युद्ध का कोई भी पता नहीं भीतर के तनाव का कोई पता नहीं वो तो उन्हीं को पता चलता है जो उस भीतर के तनाव में एक दिशा को पकड़ना शुरू करते हैं दूसरी दिशा तत्काल बलवती हो जाती अगर आप जमीन पर लेटे हुए हैं तो आपको थकान का पता नहीं चलता इसलिए रात हम लेट जाते लेटने से थकान मिट जाती क्यों आपको पता है लेटने में होता क्या है लेटने का मतलब है कि जमीन के गुरुत्वाकर्षण से दिन भर आपका जो संघर्ष चल रहा था वो आपने छोड़ दिया अब आप लड़ नहीं रहे अब आप जमीन पर लेट गए हैं गुरुत्वाकर्षण अब आप आपकी दुश्मनी नहीं कर रहे हैं आप उससे जब आप खड़े हैं तब आप जमीन से लड़ रहे हैं जमीन नीचे खींच रही है आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं आपको पता है कमर का दर्द सिर्फ आदमी की जाति में होता है जानवरों में कहीं नहीं होता सीधे खड़े होने का उपद्रव है कमर का दर्द जो लोग शरीर को अनुभव करते हैं शरीर शास्त्री हैं वो कहते हैं आदमी की रीढ़ अभी तक पूरी सीधी नहीं हो पाई जमीन उसको खींचती है और इसलिए अगर योग ने रीढ़ को सीधा करने के बड़े उपाय किए तो उसके पीछे कारण है वो संघर्ष नीचे के गुरुत्वाकर्षण से है जब आप रात लेट जाते हैं संघर्ष आपने छोड़ दिया फिर कोई थकान नहीं आती और कोई आदमी दौड़ता रहा हो दिन भर वो कहे कि मैं बिल्कुल थक गया हूं और आप लेटे रहे हो तो आप कहेंगे वहम में पड़ गए थकने का कोई सवाल नहीं हम भी तो हैं बुद्ध और महावीर खड़े होकर चल रहे हैं भीतर की दुनिया में हम वहां लेटे हुए हैं वे थकते हैं उन्हें विपरीत का अनुभव होता है जीसस जब भगवान होने लगते हैं तब तत्ण शैतान का अनुभव होता है शैतान का मतलब यह है कि खुद के ही भीतर की नीचे की ताकत भी आखिरी उपाय करती है कि कहा जाते हो और ये द्वंद भी तब तक नहीं मिटता जब तक कोई ऊपर जाना चाहता तब तक नीचे का खिंचाव जारी रहता है इसलिए हमारे पास तीन शब्द हैं एक शब्द है स्वर्ग वो ऊपर की दिशा का सूचक है उच्च आत्मा जहां जाना चाहती है जैसी होना चाहती है दूसरा शब्द है हमारे पास नरक वो निम्नस्थ आत्मा की यात्रा का सूचक है जहां हमारा नीचे की वृत्तियां जाना चाहती एक और शब्द है हमारे पास मोक्ष वो उस अवस्था का सूचक है जब हम न ऊपर जाना चाहते न नीचे जाना चाहते हम कहीं जाना ही नहीं चाहते उस मध्य के बिंदु पर छुटकारा है मुसलमान फकीर औरत हुई राबिया एक दिन लोगों ने बाजार में देखा कि एक हाथ में आग लिए लपटे मसाल और एक हाथ में ठंडा पानी की मटकी लिए राबिया भागी चली जा रही है लोगों ने पूछा राबिया क्या कर रही हो दिमाग तो खराब नहीं हो गया और जा कहां रही हो तो राबिया ने कहा कि तुम्हारे नरक को बुझाने और तुम्हारे स्वर्ग को जलाने या तो तुम नीचे जाते हो या तुम ऊपर जाते हो लेकिन तुम जाते जरूर हो और उसी में कलह और उसी में संघर्ष है लेकिन ध्यान रहे मध्य में कोई एकदम से जा भी नहीं जा सकता ऊपर जाए तो नीचे जाने वाली शक्तियों का अनुभव होना शुरू होता है और जब ऊपर और नीचे जाने का तनाव पूरा होता है और कोई तनाव का आगे उपाय नहीं रह जाता जब तार बिल्कुल पूरे खिंच जाते हैं अपनी आत्यंतिक स्थिति में तभी आपको अपने आंतरिक जीवन का जो ढांचा है उसकी पूरी प्रतीति होती है कि वो नरक और स्वर्ग दोनों से मिलकर बना है तभी आपको प्रतीति होती है कि वो भीतर शैतान और भगवान दोनों एक साथ खड़े इन दोनों की पूरी एक साथ जो प्रतीति है उस प्रतीति के बाद ही दोनों से छुटकारा हो सकता है दोनों से छुटकारा ही वस्तुतः भगवत्ता में प्रवेश है वस्तुतः ब्रह्म में प्रवेश है ये सूत्र कहता है लेकिन जब एक बार तू धैर्य के द्वार को पार कर जाता है तब तीसरा चरण भी उठ जाता है तेरा शरीर तेरा सेवक है और अब चौथे चरण की तैयारी कर यह लोभ का द्वार है जो अंतरस्थ मनुष्य को फांसता है चौथा द्वार है विराग और इसे सूत्र कह रहा है कि ये द्वार लोभ से बहुत गहन रूप से संबंधित है हैरानी होगी हमें विराग का लोभ से क्या संबंध उल्टे मालूम पड़ते कहीं कोई भूल तो नहीं होगी सूत्र विराग का द्वार लोभ का द्वार क्यों है विराग का द्वार लोभ का द्वार है भूल जरा भी नहीं हुई लेकिन जरा जटिल और सूक्ष्म है बात संसार से विरक्त हो गया मन संसार की व्यर्थता जान ली सब देख लिया कहीं कुछ पाया नहीं राख ही हाथ में आई हाथ खाली के खाली रहे कुछ भर न सका मन का भिक्षा पात्र खाली रहा कोई वासना कोई कामना कोई मांग पूरी न हुई उल्टे जितना मांगा उतने दुख आए जितना चाहा उतनी पीड़ा मिली जितने दौड़े उतने भटके यात्रा बहुत मंजिल कोई ना मिली ऐसा सारा अनुभव विराग ले आता है ये द्वार है विराग का संसार व्यर्थ हो गया लेकिन ध्यान रहे संसार के व्यर्थ हो जाने से जरूरी नहीं कि लोभ व्यर्थ हो गया हो लोभ नया रूप भी ले सकता है विरागी के भी लोभ हो सकते हैं इसलिए विराग का द्वार एक तरफ संसार का लोभ छूट गया अब कहीं परलोक का लोभ न पकड़ ले इसलिए विराग के द्वार पर लोभ के लिए बहुत सचेत होना जरूरी देखें चारों तरफ दिखाई पड़ जाएगी ये बात सच है पूछें किसी तपस्वी को किस लिए तप कर रहे हैं फौरन लोभ का पता चल जाए कहता है कि मुझे शाश्वत आत्मा चाहिए कि मुझे स्वर्ग चाहिए कि मुझे परम आनंद चाहिए कुछ चाहिए या मुझे परमात्मा चाहिए कुछ चाहिए चाह चाहे धन की हो चाहे धर्म की चाह तो चाह है लोभ तो लोभ है लोभ का विषय क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोभ की वृत्ति तो वही है कल तक मैं चाहता था यहां पद मिले अब मैं कहता हूं परम पद मिले मुझे परमात्मा चाहिए कल तक मैं कहता था कि यहां धन मिले लेकिन मैंने पाया कि यहां का धन तो क्षणभंगुर है अब मैं कहता हूं मुझे ऐसा धन मिले जो शाश्वत हो ये लोभ घटा या बढ़ा संसारिक का लोभ बड़ा छोटा है कोणियों से भर जाता है सरल लोभ है जटिल नहीं साधु का लोभ जटिल है कोणियों से नहीं भरता वो कहता ये कोणियां हैं इनको इकट्ठा करके मैं क्या करूंगा इकट्ठा वो भी करना चाहता है कोणियां इकट्ठी नहीं करना चाहता कोई हीरे मिलते हो तो इकट्ठे करूं लेकिन इसमें लोभी कौन बड़ा है जो कौड़ियां इकट्ठी कर रहा है वो या जो इसलिए कौड़ियां छोड़ रहा है कि कौड़ियां हैं मुझे हीरे चाहिए वो ये लोभ नया हो गया और इसने नया आयाम ले लिया अगर हम शास्त्रों को देखें तो सौ में से निन्यानबे शास्त्र लोभ के शास्त्र उनमें लोभ भरा पड़ा है लोभ आध्यात्मिक है लेकिन क्या आध्यात्मिक लोभ हो सकता है क्या लोभ भी आध्यात्मिक हो सकता है लोभ ही तो संसार है लेकिन धोखा है क्योंकि हम पदार्थ बदल लेते हैं जो आदमी धन मांगता हम कहते हैं क्या क्षुद्र मांग रहा है जो कहता मुझे तो परमात्मा तू ही चाहिए इसको हम कहते हैं देखो धन नहीं मांगता परमात्मा को ही मांगता है संतों की कथित बहुत संतों की कथाएं कि वो परमात्मा के सामने खड़े होकर धन नहीं मांगते पद नहीं मांगते स्वास्थ्य नहीं मांगते वो कहते हैं हमें तो तू ही चाहिए लेकिन मांगते हैं ये लोभ छोटा हुआ बड़ा हुआ और ये ज्यादा कुशल और चालाक लोभ है क्योंकि जो परमात्मा को मांग रहा है बाकी सब तो उसके पीछे मिल ही जाएगा उस बाकी के लिए क्या मांगना मैंने सुना है कि एक सम्राट यात्रा पर गया था और जब वो वापस लौटा था युद्ध जीतकर बहुत धन लूट कर तो उसने अपनी सारी रानियों को खबर भिजवाई कि तुम क्या चाहती हो तो किसी रानी ने कहा कि कोहनूर लेते आना किसी रानी ने कहा कि ये ले आना वो ले आना हजार चीजें थी दुनिया की जिसकी जो वासना थी लेकिन एक रानी ने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूं सम्राट अपने साथ एक फकीर को ले गया था जिससे वो कभी कभी सलाह लेता था उसने फकीर को कहा कि रानी तो ये है एक सच्ची जिसने कुछ भी ना मांगा वो फकीर हंसने लगा उसने कहा कि इसकी तरकीब हमसे पूछो ये रानी हम ये रानी हम जैसी ये होशियार बाकी सब ने व्यर्थ की चीजें मांगी इसने तुमको ही मांगा है और उस बाकी सब जो तुम लूट के ले जा रहे हो वो तुम्हारे साथ अपने आप आ जाता है उसकी कोई बात नहीं है फकीर ने कहा ये रानी हम जैसी इसका गणित हमसे समझो हम परमात्मा को ही मांगते हम और संसार वगैरह नहीं मांगते सब संसार उसके हैं और वही मिल गया तो फिर पाने को कुछ बचता नहीं लेकिन लोभ बदलता नहीं लोभ के विषय बदल जाते हैं विराग के द्वार पर सचेत होना जरूरी है कि संसार ही ना छूटे लोभ भी छूट जाए नहीं तो विराग का द्वार नए लोभ की शुरुआत नए संसार का जन्म तब उसकी चिंता पकड़ लेती है कोई आदमी रात भर नहीं सोता क्योंकि धन नहीं मिला जितना चाहिए था कोई आदमी रात भर नहीं सोता कि अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए पर फर्क क्या है चिंता तो दोनों को पकड़ लेती दुख दोनों को पकड़ लेता है रोते दोनों हैं तड़फते दोनों हैं फर्क क्या है आदमी वही का वही है सिर्फ दिशा बदल ली लोभ की और अब ये जो लोभ है ज्यादा सूक्ष्म ज्यादा खतरनाक मात्रा इसकी बहुत बारीक है लेकिन ये रोए रोए में भिद जाएगी वास्तविक सन्यासी वो नहीं है जो संसार का लोभ छोड़कर मोक्ष का लोभ करने लगता वास्तविक सन्यासी वो है जो लोभ की व्यर्थता समझ लेता और लोभ नहीं करता जो ये भी लोभ नहीं करता कि ध्यान मिलना चाहिए जो ये भी लोभ नहीं करता कि आनंद मिलना चाहिए क्योंकि जहां तक चाहिए लगा है वहां तक कुछ मिलेगा भी नहीं चाह ही तो उपद्रव है हम उसी को जोड़ते चले जाते हैं नई नई चीजों से लेकिन उसको साथ रखते हैं और जब कुछ भी नहीं चाहिए तब कोई दुख नहीं है इसलिए बुद्ध ने तो आनंद शब्द का उपयोग करने से अपने को रोका है बुद्ध से किसी ने पूछा है कि आप कभी नहीं कहते आनंद की कुछ बात तो बुद्ध ने कहा तुम्हारे लोभ को जगाने की मेरी इच्छा नहीं मैं कहूं आनंद तुम समझोगे सुख क्योंकि तुम सुखी जानते हो तो मैं तुमसे ज्यादा से ज्यादा इतने कह सकता हूं कि वहां दुख ना होगा आनंद होगा ये मैं तुमसे नहीं कह सकता तुम्हारे लोभ का डर है इतना कह सकता हूं कि वहां दुख ना होगा इसलिए बुद्ध ने मोक्ष की परिभाषा की है दुख निरोध आनंद की उपलब्धि नहीं स्वभावता बुद्ध को मानने वाले बहुत लोग नहीं मिल सके इस मुल्क में आज तो बुद्ध का भिक्षु खोजना मुश्किल है लेकिन शंकर को हजारों सन्यासी मिल सके आज तो सारे सन्यासी करीब करीब शंकर के हो गए क्या बात होगी और बात वही कह रहे हैं बुद्ध भी और शंकर भी शंकर के जो विरोधी हैं रामानुज और दूसरे वो तो कहते हैं शंकर भी छिपा हुआ बौद्ध है प्रछन्न बौद्ध है यह आदमी हिंदू है नहीं ये छिपा हुआ बौद्ध है सिर्फ बातें हिंदू शब्दों में बौद्ध की ही कर रहा है उनकी बात में सच्चाई है क्योंकि शंकर वही कह रहे हैं जो बुद्ध ने कहा लेकिन एक फर्क है और बुद्ध जहां कहते हैं दुख निरोध वहां शंकर कहते हैं परम आनंद हमारे लोभ को शंकर के साथ सुविधा है बुद्ध के साथ सुविधा नहीं बुद्ध कहते हैं दुख निरोध समझ में आ जाता है ठीक लेकिन सिर्फ दुख निरोध इतना उपद्रव इतना चेष्टा इतनी साधना इतने पहाड़ दुर्गम पार करने और दुख निरोध बस कांटा निकल जाएगा और कुछ भी नहीं तो मन यही टूट जाता हम बैठ जाते कोई लोभ नहीं खींचता लेकिन बुद्ध इस चौथे द्वार का ख्याल रख के कह रहे हैं दुख निरोध नहीं तो चौथे द्वार पर जब संसार से विराग होगा तब परमात्मा से राग हो जाए संसार से विराग होगा मोक्ष से राग हो जाए और तब हम फिर घूम के एक भीतर के संसार में लौट आए ये रास्ता पर्वतीय है और घुमावदार है और इसमें कहीं से भी आप नए चक्कर निर्मित कर ले सकते हैं और शिखर पर पहुंचने से रुक सकते हैं इसलिए बहुत सोचकर कहा है सूत्र में कि विराग का चौथा द्वार लोभ का द्वार है जो अंतरस्थ मनुष्य को फांसता है अंतरस्थ मनुष्य को फांसता है दो तरह के मनुष्य बहिर्मुखी मनुष्य एक्सट्रोवर्ट जुंग ने जिनको कहा है उनको संसार फांसता है अंतरस्थ मनुष्य इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी मनुष्य जिनको जुंग ने कहा है उनको ये भीतर का लोभ आनंद शांति निर्वाण मोक्ष ब्रह्म ये फांस लेते अंतरस्थ मनुष्य को फांस लेता है चौथे द्वार पर लोभ इसके पहले कि तू गंतव्य के निकट पहुंचे इसके पहले कि तेरे हाथ चौथे द्वार की सांकल को उठाने के लिए उठे तुझे अपनी आत्मा के उन सभी मानसिक परिवर्तनों को पराभूत करना और विचार व्यक्तियों का हनन करना है जो सूक्ष्म और कपटपूर्ण ढंग से आत्मा के ज्योतित मंदिर में बिना पूछे घुस जाते हैं इस चौथे द्वार पर हाथ लगाने के पहले मन में उन सारी चीजों को ठीक से समझ लेना है जो तरकीब से कपटपूर्ण ढंग से इस मंदिर में प्रवेश करना चाहेंगे लोभ नए नाम ले लेगा वासनाएं नए वस्त्र पहन लेंगी और आपके साथ मंदिर में घुस जाना चाहेंगे लेकिन उनके साथ मंदिर एकदम तिरोहित हो जाएगा आप फिर दूसरे घर में प्रवेश कर गए जो आपका ही बनाया हुआ है मंदिर में प्रवेश तो उसी का होता है जो मन को बाहर ही छोड़ जाता है अगर आप मन को मंदिर के द्वार पर नहीं रख गए तो आप मंदिर में कभी प्रविष्ट नहीं होते ऐसे आप जा आ सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मन सूक्ष्म रास्ते खोजता है सूक्ष्म रास्ते मन के बड़े जटिल और पकड़ में नहीं आते अगर कोई आपसे कहे कि अहंकार छोड़ दो तो आप अहंकार छोड़ने लगते हैं और विनम्रता पकड़ने लगते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप कहते हैं कि इस पृथ्वी पे मुझसे ज्यादा विनम्र कोई भी नहीं अहंकार पीछे से आ गया वापस सुना है मैंने जंगल में रहने वाले एक तपस्वी सन्यासी के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि हैं सन्यासी तो आप कितनी भीड़ भाड़ से दूर जंगल में आ गए और मैंने सुना है कि आप किसी को शिष्य भी नहीं बनाते आपको कोई शिष्यों का मोह नहीं सुना है मैंने आप कोई प्रसिद्धि की आकांक्षा भी नहीं रखते कोई यश की कामना भी नहीं और भी मैंने सन्यासी देखे हैं दो चार सन्यासी को उसने बात कही और वो जो त्यागी पुरुष था उसकी रीढ़ सीधी हो गई उसकी आंखों में चमक आ गई चेहरे पर रौनक आ गई उसने कहा कि बिल्कुल ठीक कहते हो अरे वो भी कोई सन्यासी है जो यश चाहते हैं पद प्रतिष्ठा चाहते हैं एक मुझको देखो इधर एकांत जंगल में बैठा हूं ना पद की कोई आकांक्षा ना यश की कोई आकांक्षा कोई आए तो ठीक कोई ना आए तो ठीक अब ये आदमी सूक्ष्म रास्ते से वापस लौट गया ये भी इसने पद बना लिया किधर मैं बैठा हूं अकेले में देखो इस ऊंचाई पे कोई भी नहीं बैठा है जहां मैं बैठा भीड़ भाड़ से दूर कोई इच्छा ही नहीं है कि कोई मेरे संबंध में जाने लेकिन भीतर ये इच्छा जरूर होगी कि लोग जाने कि मुझे कोई इच्छा नहीं है कि कोई मेरे संबंध में जाने ये सूक्ष्म है और घूम के वर्तुलाकार आदमी को वापस वहीं खड़ा कर देती यदि तुझे उनके हाथों नहीं मरना है जो तो तुझे अपने सृजनों को अपने विचारों की संतान को निर्दोष बनाना है जो अदृश्य और अजाने ढंग से मनुष्य मात्र के बीच उसके पार्थिविक अर्जनों के बीच घर बना लेती है और जो पूर्ण सा भासता है उसकी शून्यता को और जो शून्य सा भासता है उसकी पूर्णता को तुझे समझना है ओ निर्भय मुमुक्षु अपने ही हृदय की कुएं की गहराई में झांक और तब उत्तर दे ये हे वाह छायाओं के दृष्टा अपनी ही आत्मा की शक्तियों को जान यदि ये नहीं करता है तो तू नष्ट हो जाए और ये जो सारे अपनी ही विचारों की संतति परंपरा है ये जो अपने ही लोभ की सूक्ष्म तरंगे हैं अपनी ही वासना के सूक्ष्म जाल है इनके संबंध में अगर तू ठीक से सचेत नहीं हो जाता है तो विराग के द्वार से भी पुनः लोभ के गर्त में गिर जाएगा नहीं जागता है नहीं सचेत होता है तो नष्ट हो जाएगा और इस संबंध में जो भी तुझे कहना हो सोच के मत कहे अपने हृदय की गहराई में झांक जैसे कोई कुएं में झांके और वहां से उत्तर दे ये थोड़ा समझ ले उत्तर दो तरह से हम दे देते हैं एक उत्तर तो सीधा खोपड़ी से दे दिया जाता उसका कोई मूल्य नहीं है व्यर्थ है किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं आप जल्दी उत्तर दे देंगे कहेंगे हाँ या ना आस्तिक होंगे तो कह देंगे कि मानता हूं ईश्वर है नास्तिक होंगे तो कह देंगे नहीं मानता हूं ईश्वर नहीं लेकिन क्या कभी आपने रुक के अपने हृदय की गहराई में झांका कि ईश्वर को मैं मानता हूं जानता हूं ईश्वर है कभी आपने आंख बंद की और अपने भीतर उतरे और खोजा कि मेरे प्राणों की गहराई में क्या भाव है तो शायद आप जल्दी उत्तर ना दे पाए तो शायद आप कहें कि रुको कुछ वर्ष मुझे खोजने दो तब मैं उत्तर दूंगा क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं कि मेरे प्राणों की गहराई में क्या भाव है ईश्वर का कोई है अनुगूंज वहां अगर मैं आपसे कहूं कि विराग के द्वार पर समझ लेना ठीक से कि कहीं लोभ न पकड़ ले तो अपने भीतर झांकना और देखना कि आप जो वैराग्य की चेष्टा भी कर रहे हैं उसमें ही तो कहीं लोग नहीं छिपा है ध्यान अगर कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं लोग तो नहीं छिपा है अगर परमात्मा की थोड़ी खोज भी कर रहे हैं तो उसमें तो कहीं लोग नहीं छिपा है अगर उसमें ही लोग छिपा है तो समझना कि वही बाधा है परमात्मा की तरफ से कोई बाधा नहीं है कि आप उसे जान लें वो उघड़ा हुआ है अभी पर्दा आपकी आंख पर है उस पर नहीं और आनंद की कोई अड़चन नहीं है वो चारों तरफ भरा है आपके रोए रोए से प्रवेश करने को तैयार है लेकिन कोई रोआ तक आपका खुला नहीं द्वार सब बंद है लोभ जिस जिस की मांग करता है उस उसके लिए ही बाधा है लोग जो मांगता है उसी के लिए उपद्रव हो जाता है उसी के लिए रुकावट खड़ी हो जाती अपने अंतस की गहराई में झांक और तब उत्तर दे ये उत्तर भी किसी दूसरे को देना नहीं है ये उत्तर स्वयं को ही दे लेना है कि मेरी मनोदशा क्या है मंदिर भी जा रहा हूं तो मंदिर जा रहा हूं या मंदिर भी एक सौदे की जगह है जहां मैं परलोक के कुछ सौदे कर रहा हूं कुछ दूरगामी योजनाएं बना रहा हूं ये अगर साफ साफ न हो तो श्रम व्यर्थ जाता है और साधक व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है asked, about the relationship between sex and death. I said something that man is afraid of both. And that's why both are taboos. No one talks about sex, no one talks about death. we remain silent about those two things. We have remained silent for centuries and centuries. They are taboo subjects. They should not be mentioned even. The moment they are mentioned, something starts trembling within us. It seems a deep repression is there. That's why we have created substitute words. In the Western world, they will not say we are making sex, they will say we are making love. That's a substitute word. And false because love is a totally different dimension. Making sex is making sex. It is not making love. Love may include sex. But love has a different quality altogether. We never talk about death directly if someone dies, we use substitute words. We say he has gone to the Father. He has gone to heaven. Death is never faced directly. And we have created many false phenomena around death and sex. If two persons are going to be married, sex is not mentioned. And they are going to be married for sex. we have created a great illusion around marriage and the bare naked fact is sex. We have created a ritual, a great ritual of marriage, just to hide the fact. Why? And why with these two things only? They are deeply related. The reasons of their relationship are these. First, you are born of sex. Birth is sex. And birth and death are two poles of one thing. In the birth, death is hidden. That's why man became aware of the deep relationship of sex and death. Death cannot happen without sex, as birth cannot happen without sex. You may wonder, there are organisms, amoeba and other bacteria, which are not born out of sex but simple division. Amoeba goes on growing, feeding. Then a certain limit comes when the body divides into two because the body becomes so big. Now the amoeba cannot move. Simply the body up to a certain limit goes on growing then divides into two. Then these two bodies go on growing and divide in four. There is no sex. Simple division. An amoeba is known as deathless. Amoeba never dies. If food is supplied continuously, amoeba will never die. There is no need to die because there is no sex. And man cannot become immortal unless we find something which changes the whole process of reproduction. If we can make man without sex, he will not die. Death is part of sex as birth is part of sex. This can be understood also in another way. Those who were most fascinated and obsessed with the concept of immortality, all those traditions which have tried somehow to make man immortal are always against sex. Yogis, particularly Hatha Yoga, has tried deeply how to prolong life, then Hatha Yoga is against sex. If you want to prolong life, Hatha Yoga says don't move into sex. Sex brings death nearer. But you are already born and you are involved in sex. Whether you repress or express your sex will not make much difference. You have taken already one part and the other will follow. In another sense also, sex and death are related deeply. In deep sex act, you feel a certain death. You are no more. If really you have gone into the act totally, you are merged. Your individual entity disappears. And a greater force than you takes over sex act starts as a voluntary act but never ends as a voluntary act a point comes where your voluntary mechanism is taken over by the non-voluntary a point comes where your conscious mind is thrown off and the unconscious takes over a point comes when your ego cannot exist and the non-ego is in power, in control. You feel a sudden death of the ego. You feel you are dying. That's why those are very, those persons who are very egoistic, they cannot achieve sexual orgasm because they cannot be in a let go. They cannot allow they are unconscious to take over they remain mentally conscious and they try to control the whole process they cannot achieve a deep sexual orgasm and more men become civilized less and less possibility of orgasm the blissful moment when your ego is lost and you are merged into existence it is a certain death death of the ego death of the conscious, death of your individuality. That's why those who are afraid of sex will be afraid of death. Those who are afraid of death will be afraid of sex. This fear that I may be last And how I am to be certain that I will be able, capable to come back? It is uncertain. Who knows whether you will come back or you will go on and on and disappear completely? The same fear comes in meditation also because it is going again to be a deep orgasm. In many ways similar to the sex orgasm. And in essence, exactly the same. Now, modern psychology, particularly Jung's psychology, has come to discover a concept, a very old Tantra concept. Tantra says that man, every man or woman is double, bisexual. No man is simply man. He is in a way woman also. And no woman is simply woman. Deep down, there is a man hidden also. Every individual, man or woman, are bisexual. The other is hidden behind. In deep meditation, you are in a sexual orgasm, not with someone else outside, but with your own polar opposite within you meet there. Your woman inside and your man meet. This meeting is spiritual, not bodily. They penetrate each other, the yin and yang. They penetrate each other, they become one. They merge. Meditation is a deep sexual orgasm within your own two polar opposites the same fear comes again. If you move deep in meditation, you will come to know one day, sooner or later, that now the last moment has come. Now the death is going to occur. Now I will die. Fear grips you, and you may come back in that fear. And if you come back, you have missed a great opportunity. It comes rarely, very rarely. Lives and lives pass, then this rare moment comes when you start feeling a deep orgasm within. The inner woman and the inner man are meeting, your two polar opposites, penetrating each other, becoming one. You are at the moment when you can, can become whole but the fear will be there because the ego will be lost. You as you know yourself, the image will be lost. You will die. Something else will emerge. A new being, not related at all with the old one, discontinuous with the old one, will be there, but you will die with all your past fear comes. Death is encountered in meditation also. Death is encountered in sex orgasm also. But if you can encounter these deaths, you will become capable of encountering the ultimate death, the death of the body, and with no fear. Once you know that you can lose yourself and yet can be, once you know that losing is not really losing but gaining, once you know that merging is not death but life eternal, once you have known it, there is no death for you. Your body will die, everything that you have will die. But you, the very being, the very ground of your existence, is eternal. And it is good if you can experience death in sex. Sex itself becomes spiritual, it becomes a meditation. And once you can know it with the outer woman or outer man, with the beloved other lover, it will be easy for you to move into meditation and create the same phenomena within that you have known without. But one can create it directly in the inner realm also. It will be difficult, but it can be created. And once it is created and you have known a deep meeting and communion within your own two polar opposites, sex for the outside, sex without will disappear. Sex without is just a substitute for sex within, and meditation are called sex within. Alone in a deep agas with your own polar opposite. Wherever you can feel death, feel it. Don't escape. Death is beautiful. Death is the greatest mystery, more mysterious than life. Through life, you can gain the world, the futile world, meaningless, worthless. Through death, you can gain the eternal. Death is the door. Socrates was dying. The poison was given and his face seems ecstatic. So his friends ask him, Socrates, you are going to die within moments. Why you are looking so happy, so blissful? We have never seen anyone dying with such a blissful face, with such such ecstatic eyes. What is the matter? What is happening to you? Socrates says, I am entering death the great mystery. Life is nothing before it. The unknown is opening before me. The unlimited, the uncharted. I am on a great voyage. I am losing myself, but gaining the whole universe, the whole existence don't be afraid of death the fear of death debars you from all deep experiences of love of meditation of ecstasy of all deep experiences you are debarred once you are afraid of death be ready to die and then life eternal life will be yours. Jesus says, Whosoever will save himself will lose. And whosoever is ready to lose will attain. Now get ready for the night meditation. रात के ध्यान के लिए तैयार हूं